पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सतगुरुदेव की जय बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री छुडानी धाम की जय श्री करौथा धाम की जय श्री बरवाला धाम की जय सत साहिब नमो नमो नमो नमस्कार गुरु नित्यनिर्गुणाम् अकलनुपपेशुन्नतुनाम् सोऽहम् श्रोतिसमापतम् सकलचमानानिर्गल उजलहिरम्बरहधमम् बेपरवायथाय वार्वार्णैमर्दतम् गिर्दो सुमर्षितो हि गणनाय सकलथाना करो पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनाय कटे मन देवा चरण कमल लो लौलाओ आदि अंत कम सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता दाता सोई नवगत गुण अतीत सर्व पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी कर्म अर्पोषित भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जग जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा श्री सुखता में पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सलीका वरुण तन धामे सुमत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे एक कोट अदारा ग्रामे संचरासी उतरे भव जल पारा की हसी सत्संग हम विनती करते गुरु जी तेरे हाथ साहेब तेरे हाथ हम विनती करते गुरु जी तेरे हाथ साहेब तेरे हाथ हम विनती करते जी तेरे आगे तेरे आगे माल कबीरा मेरे मान सुनियो आवाज पंडारा को शीश पर चमन तेरा गुरु तेरे आगे मैं विनती करते जी गुरु जी अविनाशी के विनती करते थी गुरु जी अरज आवाज अनाथ की आरज की अरदास आवर नाना में जो हम विनती करते ही भरुज तेरा गर्भ तेरे आगे अंतरोट बरमान भागी नहीं भार सतगुरु पुरुष कबीर है पुरुष के शरण गुरु जी तेरा दया राम विनती करते जी प्रभु तेरे आग साहेब तेरे आग जोगन योगन के पाप योगन योगन के मैल जानते हैं जगदीश तू जोर किए बदल गुरु निरे अकाल पुरुष साहेब धनी नवगत अविनाशी कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु तेरा साहेब तेरा हम विनती करते अकाल पुरुष सारे धनी अवगत अविनाशी कृप चरण लगा काटो यम फांसी गुरु तेरे आग साहेब हम विनती करते कबीर मैं बाटूंगी मारे आई दास बधाई मैं बाटूंगी मारे आई दास बधाई मैं बाटूंगी मारे होया पा मैं बाटूंगी लोक से चल कर हारे अमर लोक से चल कर हारे भवन बंधन से जीव छुड़ाए भवन बंधन से जीव छुड़ाए दे मंत्र सतलोक बढ़ाए दे कहती घर घर में मैं कहती दोनों तो समन सभी से बोलो तो समन मीत सभी से बोलो करियो अवर की चास बनाई मैं हो गया पाठ पर पास बना मर भगत महात्मा आवेंगे मर भगत महात्मा आवेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे मारे परम भूत मानेंगे बधाई मैं बाटूंगी मर हुआ आज पर बधाई मैं बाटूंगी नगर निवासी सबही नाना नगर निवासी नाना आपस के मत भेद भुलाना आपस के मत भेद भुला कोई जन सब को चला जाना कोई जन सब को चला जाना या झूठी जग के आज बताई मैं बाटूंगी मैं होया मैं बाटूंगी दुख बेटा सुख का दाता सुख देते और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता पूर्ण कर्म की बात बदाई मैं बाटूंगी मार होया पाठ पर काश बदाई मैं बाटूंगी जिस घर में ये हो तपाट जी जिस घर में ये हो तपाट जी उन भगतों के हो जठात जी उन भगतों के हो जठात जी भगत में बार बाट जी भगत में होने बार बाट जिनको गही दास बताई मैं होया पाठ प्रकाश बता तुम गुरु राम देवानंद गुण गाता है गुरु राम देवानंद गुण गाता है बल राम पाल को समझाता है गुरु राम पाल को समझाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है भजन बिना नहीं सुख पाता टाइम विपत्ति हो खास बधाई मैं बाटूंगी मारे या पाठ पर खास बधाई मैं बाटूंगी मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी मारे आई साहेब कबीर बधाई नारी में बाटूं दिल मरनाए देवता जब नारी में बाटूं दिल मरनाए देवता जब नारी में बाटूं दिल मर होया पाठ करता जब नारी में बाटूं दिल मर होया पाठ करता जब नारी में बाटूं अभी छोड़ महाराज आज परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा से विशेष अनुकंपा से आज ये गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का खुलासे का जो कार्य है प्रारंभ हो रहा है प्रथम तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कौन थे इनकी क्या उद्देश्य था इनका और इन्होंने क्या रचना की जो कि ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी के अंदर जिला रोहतक तहसील बहादुरगढ़ में दुल्हेड़ा गांव के पास एक छोटा सा गांव है उस छुडानी गांव के अंदर सन 1717 में पूर्णमासी के दिन बैसाख उतरते की पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ जन्म हुआ इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ वैसे तो संत जाति को नहीं मानते परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था श्रीमती रानी देवी छुडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपने ससुराल की जमीन को संभाला क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी के तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे इनके अढ़ाई हजार बीघा जमीन थी जो कि पुराना बीघा होता था जो पौने तीन बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है ढाई पौने तीन बीघे का होता था इतनी इनके जमीन थी ये सब वर्णन इसलिए दिया दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये कथ दी होंगी नहीं इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है शास्त्रों का ज्ञान ना रहा वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया उपनिष्ठ श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की भाषा भाष्य किया अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है रामायण कुछ कह रही है महाभारत कुछ कह रहा है चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया तीन चार महर्षियों ने किया उनका आपस में कोई से का किसी तय नहीं मिलता कहीं तक मिलता है फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं वही श्लोक होता है संस्कृत के वही श्लोक क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते अपनी ज्ञान अनुसार अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए के के बेरा परमात्मा सैक है या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है चारों वेदों को छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिषद महाभारत गीता जी और जो मुसलमान धर्मों का मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ वो कौन महापुरुष था कौन से लोकताया था और किस उस किस शक्ति का वो अवतार था और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था और आखिर में आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है <coughs> महर्षियों ने महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाए पर नहीं कर पाए <coughs> बंदी छोड़ कबीर साहब ने तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उस सारे ज्ञान को एक किया और ये बताया कि चारों वेद हमें क्या बताते हैं और उन चारों वेद के जान लेने से चारों वेद का ज्ञान हो जाने से हमें क्या क्या उससे उपलब्धि होगी और फिर साथ में यह बताया है कि वेदों का जान लेना एक तरफ जैसे पहले ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया जिसको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है आज भी उनके वंशज चाहे वो अनपढ़ है उसको भी चतुर्वेदी कहते हैं उनके कोई पूर्वज हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों के को कंठस्थ याद किया अब कंठस्थ याद कर लेना शास्त्र को कोई बड़ी बात नहीं और कोई खास उपलब्धि नहीं ऐसा गरीबदास जी तथा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं <clears throat> किसी शास्त्र को कंठस्थ ज्ञान कर याद कर लेना ये कोई खास उपलब्धि नहीं बताई उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पावेगा केवल जानकारी हो सकती है दुनिया में हम ये जना सकते हैं के संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं पर आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर जैसा क्योंकि सात दिन चलेगा ये धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह तो साथ में ये भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें के ज्ञान दिया और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश किया जाता है अब यही है कि महाराज कबीर साहब ने कहा और गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं ओंकार है वेद को मूला ओंकार ओम ओम नाम जो है चारों वेदों की जड़ है मूला कहते हैं मूल को चारों वेदों की जड़ है और महाराज कहें इस ओंकार में सब जग भूला ओंकार जो है ये वेद की जड़ है चारों वेद पढ़ लो एक ओम नाम जाप कर लो वो भी किसी गुरु से लेकर वैसे अपने मनमुखी नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता ऐसा भी संतों ने प्रमाण दिया फिर साथ में ये बताया कि गीता जी के ज्ञान को हम याद कर लेते हैं सारा घोट लिया सब कुछ याद हो गया फलाने अध्याय में ये लिखा है उस अध्याय में ये लिखा है तो उससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा हाँ ठीक आत्म कल्याण के, के लिए हमने गुरु से उपदेश लेना होगा और गुरु उपदेश जो भी जिस इष्ट का नुमाइंदा होगा वही तक का लाभ हमें दे पाओगा ये भी साथ में बंदी छोड़ने हमें बताया अब साथ में सतगुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया कि जो मुसलमान भाई हैं वो मोहम्मद जी को परमात्मा अल्लाह का खुदा का अवतार मानते हैं और मोहम्मद जी कहां से आए थे ये शंकर जी के गण थे और शंकर लोक से आए थे क्योंकि जो भी गण किसी भी इष्ट किसी भी जैसे महापुरुष की जैसे इष्ट की नगरी से आता है लोक से आता है जिस प्रकार विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण जी आए शंकर जी के अवतार गोरखनाथ जी और भी बहुत से लिखे हुए हैं रुद्र वगैरह और साथ में मोहम्मद जी भी है मोहम्मद जी ने अपना अलग से ज्ञान चला दिया उन्होंने भी इतना भ्रष्ट नहीं किया था समाज को ना मांस खाने की कहीं किसी भी कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिख रखा कि मांस भक्षण किया करो आने वाले समय में समय के अनुसार महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जाड़ के स्वाद के कारण हमारे जैसे स्वार्थी जीवों ने इसको समाज को पथभ्रष्ट कर दिया अब हम आपको ले चलेंगे कि कबीर गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पणवासी को विक्रमी संवत सत्रह में श्री छुडानी धाम में प्रगट हुए जब गरीबदास जी महाराज दस वर्ष के हुए खेतों में गऊ चराण जाया करते थे क्योंकि डेढ़ सौ दो सौ गायें रखा करते थे इनके पिताजी बहुत लंबे चरागा थे ढाई हजार बीघा बहुत होता है तो एक दिन ये गऊ चराने के लिए गए हुए थे दिन का समय था बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है वो कौन सा लोक है जो सत्य है ये थोड़ा सा सात दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाओगी सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर जैसे कि आप देखते हो धोती और कुर्ते में सिर पर लंबा टोप और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक तो कहने लागे भाई पालियो क्यों दो चार पाली और साथ में थे कि भाई पाड़ी मैंने दूध प्याओ अब गरीबदास जी दस एक साल के बच्चे थे कहने लगे महाराज जी दूध पियो अभी निकाल देता हूं गऊ का तो कबीर साहब ने बोले ना भाई दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गांव का गऊ भी ना हो बछड़ी हो यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रहा क्या हो पिंदी भी नहीं हो दूध उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े हुए ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीण की रुचि को ना आप तो मजाक करो सो बिना ब्याई कदे दूध दिया कर सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया कर गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो डेढ़ एक साल की थी नए दूध ना हुई थी हाथ लानते ही उनके थड़ा मत अपने आप दूध रसना शुरू हो गया अब कई भाई तो इस बात को कति गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई ये तो 250 साल पहले की बात से बिल्कुल सत्य है आज आपको बताता हूं उन्दा गांव के अंदर एक तो आ गऊ हो रही है पांच छह बयाली उसे तसली करियो आप जाकर के वो नाम भूल गया मैं नाम भी नोट करके ले आऊंगा बताऊंगा आपको वो नाम ले रखा उस औरत ने हमारा बुढ़िया वानो बोले जी साबत गांव गवा इस बात का या बाछड़ी दो से डेढ़ एक साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध के थड़ा में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर मन ने सोची मैं इसका कोई रात रूद बन गई होगी मैं घर ने ले आई डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने बोला कोई रात नहीं तो वैसे हो जाता है अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता फिर तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते पाछा तो उसमें तुरल बंधन लाएगी तो मन ने के किराए के बाल्टी अडान लाएगी जब वो दूध उसके पाया के ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी कुछ वो बरोली बरन लाएगी आदि मतलब शेर होया दूध फिर डेढ़ सिर होया फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा उबाल के देखा ना पटया नहीं पटया तो मन ने के करा फिर उसको मलाई भी आई फिर चाह बना के देखी फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया उसकी दही जाम की और घी का डा घी भी लिख जाया तो इस प्रकार ने बोली फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले बिनोले गिरने शुरू कर दिया बाखर चने वने जो कहती मेरी बहू का बालक होना था उसका दस किलो दूध किया घी बनाया मैंने उसका देसी गऊ का आज भी वह गां प्रमाणित हुआ नो कहती चाल मैं दिखा के लाऊ आपने मैं बोला वे तो के झूठ बोला है अरीब तो मेरे घर में बंद सर सब और भी बीस तीस पचास जितने वहां गांव के बैठे थे बोले जी कति सौ की सौ सच है तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें जो हम आख्या देख लें कई संता तुम्हारी तो बात हुई भक्तों से आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया नो बोला दिखा दे करके अब उस अणजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में आवे कोई आड़ा लू चाल दी हो और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और उन्होंने काड़ा दिखा दे करके इसका के इलाज सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है वो झूठ बोलने का उसने किए शौक से भाई लेकिन वो नौका में जब मानो जो बाढ़ रोहतक में बरसे अरे रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब और जेठ में बोला जींद में बारिश अब कई भाई ने कहे कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में और संत ने कहे कि वो जब हो सकता है तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आख्या तो सच से और पहले के में बात हुआ हम नहीं मानते शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे इन्होंने शास्त्रों को जोका तो रखा पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी तो सतगुरु महाराज ने हमें ये ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है जीवन लीला कहो जीवन चरित्र कहो उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने कब जन्म लिया वो कै भाई थे उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था उनकी कै मौसी की माताएं थी हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ सीता जी का हरण हुआ रावण का मरण हुआ फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई उसके बाद बेचारी के भाग में फिर भी सुख नहीं लिखा और वो फिर भी वन में जाकर के दो पुत्रों को जन्म दिया लव और कुश को फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए रामचंद्र जी ने यज्ञ करी तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन दो लड़कियां ने लव और कुश ने छुटा दिए अर्थात उस तीन लोग के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया वर्ण के बाद उसका सार दिया भावार्थ दिया और फिर सार दिया तो इस प्रकार फिर यह बताया कि इसके बार बार पाठ्यक्रम से भाई महाभारत का बार बार पाठ कर लेना या रामायण को बार बार पढ़ते रहे तो क्या हासिल होगा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आत्म कल्याण नहीं हमें ज्ञान हो जाएगा कंठस्थ हो जाएगा दो चार दस रुपए पढ़ने पाते हैं पर आत्म कल्याण में हम पशु और गधे बनते नहीं बच सकते गीता और महाभारत को बार बार पाठ्यक्रम पढ़ने से हाँ उनसे ये लाभ बताया कि को पुण्यात्मा अपने अंतकरण में इस बात को जमा सकती है कि रावण कैसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए भाई किसी की पत्नी को नहीं हटना चाहिए उसके हटने का उसको उठा ले जाने का दुष्कर्म यानी अपने हिसाब से कोई ऐसा बुरा कर्म करने का उसका यू फल होगा कि परिवार तो ही नष्ट होगी इस दुख से इस पाप कर्म से हम बच सकते हैं लेकिन पशु तो नहीं बच सकते जितने भी शास्त्र हमारे पास वेद भी रखे हैं जिसमें महर्षि दानंद जी का भाषा भाष्य है उन्होंने वेद वेद का जो है भाषा भाष्य किया था आधा श्याम वेद और एक यजुर्वेद तो उस वेद में क्या लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने हमें आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसे रहा करो भाई शुभ काम किया करो यज्ञ हवन किया करो परमात्मा का नाम लिया करो ईश्वर को याद किया करो बुरे कम कर्म मत किया करो राजा जो ऐसे काम नहीं करता वो राजा नहीं कहलाता ये ज्ञान दिया है इस ज्ञान से हम अपने अंतकरण को और इसके ऊपर अनुसरण करने से दुखों से बच सकते हैं बुराइयों से बच सकते हैं लेकिन जन्म मरण के चक्कर में अब नहीं बच सकते केवल यज्ञ और हवन तथा इसके वेद के पाठ बार बार कर लेने से ऐसा गरीबदास जी ने बताया साथ में ये भी बताया कि एक नाम दिया जाता है जैसे ओम जाप इस तीन लोक की विशेष शक्ति है इसके अंदर और पूरी उपलब्धि ओम नाम के जापते हो जाती है आप देखते हो शंकर भगवान का भी जाप जब करते हैं ओम नमः शिवा कृष्ण भगवान का नाम जाप करते हैं ओम भागवते वासुदेवाय नमः जितने भी कोई भी आप उठाकर देख लो जो भी मंत्र अगर कामयाब हुआ तो ओम नाम से हुआ तो गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं ओंकार है वेद को मूला इस वेद की जड़ है पर भाई ओंकार में सब जग बोलिया ओम जाप के ओम नाम के जाप हमें के प्राप्ति होगी ये गरीबदास जी महाराज बताते हैं लेकिन उस ओम नाम की उपलब्धि किन किन संतों ने की ओम नाम के जाप से किन ऋषियों ने क्या क्या वस्तु प्राप्त की भाई सिद्धियां प्राप्त की अपने शरीर को साध लिया इतनी तक सिद्धियां कर ली थी कि आकाश में उड़ जाया करते थे ओम नाम के जाप तह और फिर उन ऋषियों का भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई ये बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताया प्रमाण दिया कि उन संतों ने क्या प्राप्ति की जिसको ये तीन चौथी मुक्ति कही जाती है उस चौथी मुक्ति के अंदर जीव किस परिस्थिति में होता है वो भी सारा इसमें वर्णन किया समय आने पर आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे अब रामायण का ज्ञान हो गया हम उनसे बच गए जैसे गीता जी के पाठ करने से हमें यह ज्ञान होगा कि वह बुराई नहीं करनी चाहिए जीव अमर है इसमें लिखा ना परमात्मा प्रकृति और जीव अनादि है ऐसा हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं अब जीव पहले एक परमात्मा था परमात्मा से फिर हम आत्म रूप में थे आत्म रूप से हम जीव बने जीव बने अपनी इच्छाओं के कारण और जब इच्छाओं का नष्ट हो जाएगा हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी हम फिर पीव बढ़ सकते हैं ऐसा प्रमाण गरीबदास ने दिया और भी शास्त्र बताते हैं अगर हमने जीव ही रहना है कई भाई लोग ऐसे संत आत्माएं संत जी के जीव अनादि है ये पीव नहीं बन सकता तो फिर साधना की आवश्यकता ही नहीं जब हमने जीव ही रहना है अनादि रहना है तो कुत्ते भी बनना होगा और सुअर भी बनना होगा गदे और गदी भी बनना होगा ये तीन लोग की व्यवस्था तथा जीव की प्रक्रिया के अंदर आता है गरीबदास जी महाराज कहते फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं जब आपने जीव ही बना रहना है सारी फोर यावर सदा के लिए तो फिर साधन क्यों करो भाई उस साधना से क्या होगा तो फिर साधन क्यों करो भाई उस साधना से क्या होगा तो ये सारा साथ बताया कि हमने पीयू बनना है धर्मदास जी को जब कबीर साहब ने पूर्ण ज्ञान दिया तो उसमें जब उनको ज्ञान हो गया तो जब ने कहा था मेरे हंसा भाई तो हंस रूप था जब तू आया इस जीव को कहा कि तू परमात्मा स्वरूप था जब सतलोक से आया था और अपना स्वरूप भूल में भूल जाता तो जीव कहाया अब हम कभी तुम्हारा तो भाई बालक बीमार हो गए कभी बच्चे ना हुए जब मुश्किल हो गए तो उनकी पालन पोषण फिर पशु बीमार नौकरी ना मिली नौकरी छूट गई हाय फलाने का क्या होगा लड़की का लड़का ना हुआ तो हम 24 घंटे भयभीत रहते हैं अपना स्वरूप भूल गए कि हम परमात्मा स्वरूप भी हैं एक हम है परमात्मा के अंश है पर हम अब जीव बन बैठे जिस प्रकार कई भाइयों कहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है अब इस प्रक्रिया को कोई समझ लेगा तो बात समझ में आ जाएगी ना तो नहीं आंदी जीव बिल्कुल ब्रह्म है इसमें कोई शक नहीं तो सूर भी ब्रह्म है और गदा भी ब्रह्म है मच्छर भी ब्रह्म है और मुर्गा भी ब्रह्म है सारे ब्रह्म मनुष्य भी ब्रह्म है नहीं जब तक यू जीव है इतने जीव है और जब पीव हो जाएगा यू ब्रह्म हो जाएगा जिस प्रकार बर्फ पानी से बनती है बर्फ जो है वो जल से बनी और जिसको ज्ञान है जिसने अनजान से उसने नो नहीं दे रहा है बर्फ बने क्या है तो उसको उस बर्फ के भाव से ही देखता है जब हमने मालूम नहीं था कि बर्फ जल से बनती है तो गांव में आया करती थी या बर्फ तो हमने सोचा करती या बर्फ भी बर्फियां की तरह नहीं बड़ी बनाई आगे होगी की या कोई और वस्तु होगी जब हम बिल्कुल बालक थे, थे। फिर हमने फैक्ट्रियां देखी कि बर्फ तेल में बनते अब पता चला कि फ्रीज में भी बर्फ बढ़ाने लग गए तो वो जल से बर्फ बनी तो हम ब्रह्म से जीव बन गए किसी भी कारण से बने किन्हीं परिस्थितियों में हमने जीव बन गए अब जब तक हम पीव नहीं बनाएंगे इतने पानी नहीं यानी पीव नहीं कहला सकते इतने जीव हैं और जब हम जब तक वो बर्फ बर्फ है वो पानी नहीं कही जा सकती पर जो भी नहीं कह सकते ये पानी नहीं है उसको ये भी नहीं कह सकते जल नहीं है जिसको ज्ञान है वो कहेगा नहीं जल तो है तो ये जो कई भक्त आत्मा जो कहे कि जीव खुद ब्रह्म है इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं क्या की साधना करे जब ये खुद परमात्मा है अरे भले मानुष जब तक बर्फ बर्फ है तो बर्फ के गुण से उसमें पानी का काम नहीं देगी जल का काम बर्फ नहीं दे सकती जब तक पानी नहीं बना लेंगे इसी प्रकार जब तक हम पीर नहीं बनेंगे इतने जीव की ही संज्ञा में रहेंगे और हम हमारे साथ ये सब लगे रहेंगे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और इसके अंतर्गत हम लोग चौरासी भी भोगांगे ये भोगनी पड़ेगी अच्छा बंदी छोड़ कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने बताया साथ में गीसासन जी महाराज भी प्रमाण देते हैं और जितने भी दादू साहब ने भी नानक साहब ने भी यही प्रमाण दिया है कि जब तक ये जीव है इसको पीव बनाना है और जब तक हम पीवनी बन जाएंगे इतने हमारी ये जन्म मरण की प्रक्रिया खत्म नहीं हो सकती यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा दसरे मन तो बसरे सुख के सागर जहां शब्द सेंध रत्नागर शब्द संधु शब्द यहां परमात्मा स्वरूप है ईश्वर का जो आखिरी शक्ति वो शब्द होती है और जहां शब्द सिंधु यानी उस परमात्मा का सागर है उस शब्द का भंडार है ईश्वरीय शक्ति का जो निरोड जैसे एक तो घी हुआ जिसको कहते हैं मक्खन वो भी घी कवा हुआ है और वो मक्खन है फिर उसको ता दिया तो वो शुद्ध घी हो गया इसी प्रकार जब हम यहां पर जो जीव से ये ब्रह्म है ब्रह्म माया सहित ब्रह्म है इस तीन लोक का मालिक ही किस ब्रह्म तक जिसको ब्रह्म कहते हैं वो माया सहित ब्रह्म है और इसके ऊपर पार ब्रह्म है जिसको शुद्ध भी कह सकते हैं ताया हुआ तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं गरीबदास जी के मेरे हंसा आ के मन तो सुख के सागर बसरे जहां शब्द सिंधु रत्नागर के जहां पर परमात्मा शब्द रूप में है उस लोक में चाल भाई वहां जाने के बाद तेरे ऊपर कोई प्रक्रिया जीव संज्ञा की नहीं रहे ना काम सतावे ना क्रोध सतावे ना लोभ सतावे और ना मोह सतावे ना अहंकार दुखी करे उसके बारे में बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजय भाई कहर ना नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी भाई सुख का सागर सोई वो सतलोक वो पूर्ण ब्रह्म वो सुख का सागर है जब हम वहां पहुंच जाते हैं हमारा कोई शत्रु नहीं रहता ना दुश्मन होता ना मन में राग उत्पन्न होता ना द्वेष होता अब राग है तो द्वेष भी साथ रहेगा तो इस प्रकार महाराज कहते कि शंखों लहर मेहर की उपजय भाई कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई अचल जो चंचल ना हो सथाई स्थिर और अविनाशी जिसका नाश ना हो अब हमने ये देखना होगा कि परमात्मा की वेराइटी का आपको ज्ञान दिया जाएगा परमात्मा किसे कहते हैं आज तक तो हमने परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है जानकारी जरूर है कि एक शक्ति ऐसी है जिससे हमारे काम सरिया करें और हमारे दुख दूर होते हैं और साथ में हम उनकी अच्छी उपासना करेंगे तो कोई ऐसी सफाई तव है जहां हम जैसे दहू का प्रमाण मिलता है प्रहलाद का प्रमाण मिलता है मीराबाई का प्रमाण मिलता है कि उनको यहां से इस दलदल से निकलकर कुछ राहत स्वर्ग में प्राप्त हो रही है वो सुखी है अब सतगुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग से ऊपर एक और लोक है जो संखों स्वर्गों जितना सुख है जिस प्रकार स्वर्ग क्या चीज है स्वर्ग नाम सुख का होता है जो गांव में जो गरीब आदमी है जो कि झोपड़ी में रहते हैं उनसे ज्यादा सुखी जो चिप्स के मकाना में रहने से और एयर कंडीशन लगे हुए वो उनकी नजरों में स्वर्ग में है जो के तो कोई फर्क नहीं लेकिन जो उस महलों में रहते हैं जिनके अंदर फ्रीज कूलर कार कोठी एयर कंडीशनर है वो जी वहां रहते हैं और वो जो झोपड़ी वाले उनको स्वर्ग में समझते हैं और उनके अंतकरण में जो बीमारी जो की चो से किसी का छोरा मर रहा है किसी की फैक्ट्री निकाल दी किसी का बीमारी हो रही है अंदर उनका कुरुड़ ना जो लगी हुई वह अलग है पर उन बेचारों की नजर में वो कति स्वर्ग में है तो गरीबदास जी महाराज कहते हम जो यहां पर सब उपलब्धि प्राप्त है राजा को उस राजा से सुख हजार गुना सुख स्वर्गलोक में होश है पर उन देवताओं के अंदर जो लोग उसमें रहते हैं जो पुण्यात्मा यहां से अपना मेहनत करके स्वर्ग प्राप्ति कर रही है उनके अंदर राग द्वेष ज्यो का त्यों भया पड़ा वो सुखी नहीं है हमारी नजर में वो स्वर्ग में कति सुखी है हम कोशिश करते हैं स्वर्ग में पहुंच जाए तीन लोग वेद और शास्त्र पुराण उपनिष्ठ ये सिर्फ हमें स्वर्गता ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये वहीं तक का ज्ञान देते हैं गरीबदास जी महाराज जहां ये ज्ञान अपना खत्म कर लेते हैं शास्त्र वहां से शुरू करते हैं इनको फेल नहीं किया उन्होंने उन्होंने इसका जोका तो मान लिया और है भी सत्य फिर उनका बताया कि उस स्वर्ग में की फर्श आप की वहां प्राप्ति करना चाहते आपने राग द्वेष सुने कि एक राजा था रहुस नाम का उसको इंद्र पदवी मिल गई इंद्र पदवी मिल गई तो उसने इंद्राणी के पास जाना था और पालकियों में ऋषि लगा करते हैं उस इंद्र के जिनको हम यहां कहते हैं ना स्वर्ग में पहुंच गए वह इंद्र की पालकी डोते वहां पर तो चार ऋषि और इंद्र की पालकी को लिए जा रहे थे कहार रूप में और रहुस राजा के यानी इंद्र के मन में वासना इतनी प्रबल हुई उनमें से एक ऋषि थोड़ा वर्ग था वो चल नहीं रहा था तो वो कहने लगा भाई जल्दी चलो तुम क्यों देर लगा रहे हो विषय वासना खत्म नहीं थी उनकी कि जल्दी करो देर हो रही है आखिर में क्या कहते हैं उसने उसका लात मार दी जो एक कमजोर ऋषि चल रहा था उस ऋषि ने उसको शराप दे दिया तो कहते हैं उस शराप वश वो अंदर भी और वापस आके शरीर इसमें गदा बन जाता है तो इस प्रकार वहां हमने स्वर्ग सुथरा ला गए बंदी छोड़ गरीबदास जी कहे स्वर्ग हमने भी देखा पर महाराज जल नहीं ला गया और सुन मंडल को किया प्याना काल कर्म भाग्या हम तो वे अपने सतलोक में चले गए तो ये स्वर्ग की बात बताओ गरीबदास जी महाराज के स्वर्ग कुछ नहीं से दूसरे मायनों में दूसरे उदाहरणार्थ स्वर्ग क्या चीज है जैसे सारे साल ताड़ मेहनत करी भगतात्मा तपस्या करते हैं खड़े होकर तप करते हैं भाई साधना करते हैं योगी जन बैठ कर बड़ी योग उपासनाएं करते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है तो उस स्वर्ग के बारे में एक प्रमाण मोटा सा हम देंगे सारा वर्ष दस महीने या नौ महीने अपने कार्य क्षेत्र में हमने मेहनत करके दो पैसे जोड़ दिए पांच सात हजार रुपये बचाए उन पांच सात हजार रुपया लेकर शिमला चले गए कुल्लू मनाली चले गए और अच्छा जहां पर खूब वातावरण ठीक रहता गर्मियां में लू नहीं चलती वहां जाकर के किराए का कमरा लिया और सारी मोल सामग्री आई और दो महीने तीन महीने हम जो गर्मियां के थे वहां बिता करके अपने जेब खर्च से वापस आ गए और वापस जब आए तो यहां पैसा जेब में नहीं था थोड़ा बहुत तो बचा भी हुआ होगा तो फिर वो उड़ा अपना प्रयोग कर लिया तो महाराज के हमने यहां साधना की जैसे वेद अनुसार की यज्ञ किए हवन किए और गीता पढ़ गीता जी पढ़ी और कोई भंडारे कर लिए ये सब करके हम स्वर्ग प्राप्ति कर जावांगे वो भी उतने दिन के लिए जितना जेब खर्च यहां से लेकर जावांगे जितनी कमाई हम यहां जोड़कर ले जाएंगे उतने दिन हम स्वर्ग में रह सकते हैं फालतू एक मिनट नहीं रहने जैसे यहां नहीं रहने देते हमें जब समय पूरा हुआ अपनी वहां आने से पहले जाने की भी तिथि उसी दिन नीचे लिख दी थी कि बेटा इस ना होगा उल्टा और इससे पहले पहले तेरा के में हिम्मत होगा अच्छे कर्म करें तो कर बन जा कर लिए और फिर नहीं तो गदे और कुत्ते लग चौरासी तो वो का वो गगा साथ में ये हिदायत दी थी आने से पहले जाने की थी, थी जब हमारी सारी स्त्री लिख दी और नीचे बंद कर तो इस प्रकार हम जब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं तो वहां खा करके वापस आ गए जो माड़े कर्म कर गया वो नरकमब हो गया जब दोनों वापस आए तो बराबर थे यहां पर बूंदे कर्म नरक में भोगी एक जीव ने एक ने शुभ कर्म स्वर्ग में भोगे फिर वापस आ गई तो गरीबदास महाराज कहते हैं इसी इसी तम ये जितने भी आत्मा है करा कितनी वह स्वर्ग हो गया पर वहां ठिकाना नहीं मिला वहां सथाई तो नहीं मिला आपको तो इसलिए शत्रु महाराज कहते हैं सथाई तो हम बतावांगे कुकर मिलेगा चार मुक्ति भी कोई स्थाई तपन नहीं बता चौथी मुक्ति ध्रुव को प्राप्त है प्रहलाद को प्राप्त है ये चौथी मुक्ति के जीव भी वापस आएंगे जब महाप्रलय होगी जिसमें लोक पर लोक सब समाप्त हो जाएंगे ध्रुवमंडल भी नहीं रहेगा शिवलोक भी नहीं रहेगा विष्णु लोक नहीं रहेगा ब्रह्मा लोक नहीं रहेगा और माता का लोक नहीं रहेगा कोई ब्रह्मंड नहीं रहेगा खत्म हो जाएंगे ये इसको महाप्रलय कहते हैं तो एक महाप्रलय में 21 ब्रह्मंड की टोडी खिस जाती है यानी खत्म हो जाता है आप प्रमाण देते हो कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा गरीबदास जी महाराज भी लिखते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते ये मेरे पास रखे सारे किसी ने ना जचे तो इन पढ़ लियो आकर मेरे पास पढ़ सके कोई ने सोचा कोई सट्टे मारे सट्टे नहीं हुआ कर देखे जब मैदान में और पंडाल लगाकर कोई चीज कही जाती है पूरे विश्वास के साथ कही जाती है और आत्मानुभूति के साथ की जाती है जो हमने अनुभव किया हुआ होता है तो अग्नि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा ग्रास लेगा जल तत्व को अग्नि ग्रासेगी अग्नि तत्व को वायु पवन तत्व और पवन तत्व को आकाश आकाश को ओंकार ये ओम ग्रास लेगा अपने अंदर जिसको ज्योत निरंजन कहते हैं जिसको ब्रह्म कहा और ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म अक्षर पुरुष अपने अवगत पुरुष ग्रास लेगा अवगत पुरुष जो है वो पार ब्रह्म है यानी इस ब्रह्म तक को भी पार ब्रह्म अपने अंदर समालेगा अपने पास रख लेगा और जितने भी ये जीव हैं इनको न्यारे न्यारे अलग अलग कोठड़िया में गाल कर दिया जाएगा जैसे ज्वार का बीज न्यारा गाल दे चना का न्यारा गाल दिया ग्वार का अलग रख दिया इस प्रकार हम सब जीव वहां उस पार ब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में अवगत पुरुष के लोक में बोरिया भर कर डाल दिए जाते हैं और दोबारा फिर सृष्टि रचती रची जाती है तो हम फिर भगा दिए जहां से किसी किसी रूप में अपने उसी भोग को भोगने के लिए फिर शुरू हो जाते हैं तो यहां बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं मन तो सुख के सागर बसरे भाई बहोर ना ऐसा जसरे मन तो सुख के सागर बसरे सुख के सागर जहां शब्द संधूरत नागर कोट जन्म तन भरमत गए कुछ ना हाथ लगा रे भाई कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा ये जुनीतन बोधी कुकर सुकर खर बया बोरे तू कौआ हंस बोगारे कौआ भी रहा हंस भी हुआ और बुगला भी बढ़ा तो ये तने बहुत बार कितनी बार ये चीज तने भोग ली भाई फिर कहा कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा करोड़ों जन्म तक तू राजा भी रहा कितनी बार तू राज भोग चुका है और भाई तीन कोट जन्म तू राजा कीना मिटी न मन की आशा और भिक्षक हो तू दर दर हांडा मिला ली निर्गुण राशा अब देखा ना इन दुकाना का ऊपर लाल लत्ते पैर लेंगे ढाडी बढ़ा लेंगे माला गा लेंगे और छत्तीस पाखन करके एक संत को बदनाम करते हैं वो लोग मांगते फिर हैं और को ना देता दीदे का देंगे फूक दूंगा अब पहले ऋषि हुआ करते श्राप दे दिया करते थे उनका भय इतना ही हमारे अंदर जना हो रहा से दे ये साचे फूक ना दे और फिर सल्पा फीक का फूक तो वो फेरगा ना हमारे दिए हुए धन को हमारे दिए हुए पैसे को सुल्फा पीवेगा फीम खावेगा दारू पीवेगा या कोई और भी बदमाशी कर सकता है तो महाराज की कहते हैं कि ये सब पाखंड वस्तुएं हैं इनके अंदर हमने आचरण वश नहीं रहना चाहिए तो कहते हैं भिक्षक हो तू तो दर दर हांडा पर मिलाना निर्गुण राशा निर्गुण राशा जो है वो निर्गुण वस्तु कैसे प्राप्त होती है वो विधि गरीब दासियान बताई कि हम बतावांगे ऐसे उसकी निर्गुण उपासना ऐसे होगी तेरी फिर कहा कि इंदर कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण राया इंदर कुबेर और ईश के हैं परमात्मा मालिक जैसे इंद्र भी भगवान है इंद्र को भी भगवान इंद्र कहते हैं और वेदों में उसी इंद्र को ऐश्वर्यवान परमात्मा कहा है महर्षि जीव ने भी और जितने भी और शास्त्र ये खोल रखा चाहेंगे जो उसमें लिखा कि ऐश्वर्यवान परमात्मा जब परमात्मा में गुण विद्यमान है तो वह धर्म नहीं है वो निर्गुण नहीं है जिसमें गुण है जो परमात्मा ऐसी करता है उस परमात्मा वो सारी विधि है तो उसके वो मतलब माया सहित है रहित नहीं है उन आकार में भी है कहीं ना कहीं ये लिख रखा है इस वेद में भी हम आपको दिखाएंगे यजुर्वेद में साफ महर्षि दयानंदिया ने खोल रखा भाषा भाष्य कर रखा उसका और उस यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में खुद महर्षि जी सरलार्थ करते हैं सरलार्थ को बदला नहीं जा सकता अगर मायना को बदलता है अर्थ को बदलता है तो वो विद्वान नहीं कहलाता उन्होंने जोका क्यों लिखा है कि वो परमात्मा वो ईश्वर वो परमेश्वर जिससे सारी सृष्टि चेतन है चल रही है और आश्रित है वो अपने सत धाम युक्त है अगर वो धाम में है तो आकार में भी है इस बात को नहीं बोलना चाहिए मकान बनाहत तो आदमी भी रहे होंगे या रहते होंगे मकान की वैसे जरूरत नहीं थी जब उसका धाम है उसका स्थान है उसका लोक है तो वो आकार में भी है दूसरी तरफ से कहते नहीं उसका कोई लोक नहीं उसका कोई धाम नहीं कोई स्थान नहीं वो तो कणकण में व्यापक है गरीबदास जी महाराज उसके बारे में बताते हैं व्यापकता किसे कहते हैं और स्थायीपण किसे कहते हैं सूर्य अपने स्थान पर है पर यह सारी पृथ्वी जितने उसके सामने आते उसमें प्रकाश व्यापक है पर है अपने स्थान पर इसी प्रकार राजा अपने स्थान पर है अपनी गद्दी पर है अपने महल में है पर उसकी सत्ता उसकी शक्ति हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है इसमें कोई शक नहीं उसका भय उसकी सत्ता उसकी प्रभुता निराकार रूप में सब जगह व्यापक है वो मुख्यमंत्री में भी है वह डीसी में भी है और डीसी के माध्यम से एसपी और नीचे के जितने भी ऑफिसर उनके माध्यम से हर चीज हर की उसमें अपने क्षेत्र में व्यापक है जैसे <clears throat> अब हम आपको जो जहां ले जाना चाहोगे वो ध्यान से सुनिएगा पहले तो हमने राम की परिभाषा का नहीं ले रहा राम कहे किसने Ram God Allah that power Ram is a God God is a power और उसको अल्लाह कहो राम कहो खुदा कहो अब पावर नाम जो है ना वो परमात्मा का एक स्वरूप है शक्ति जो है उसे परमात्मा कहते थे अब शक्ति तो देखो इंद्र में भी है और शक्ति हनुमान जी में भी है शक्ति गणेश जी में भी है शक्ति भगवान राम में भी है विश्व शंकर जी में भी है कृष्ण ज्या में भी है विष्णु जी में भी है और ब्रह्मा जी में भी शक्ति है पर जितनी जिसमें शक्ति है उतने ही वे परमात्मा है जैसे तहसीलदार भी साहब को आवश्यक एम भी साहब और डीसी साहब भी साहब को आते कमिश्नर भी साहब को आवे और मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति साहब ये सारे साहब को आवे पर इनकी कार्य क्षेत्र में और शक्ति में दिन रात का अंतर होता चला जा सकता ये तो आप मानोगे कि इनके ये सब साहब है इन कोई का भाई यू काम तो साहब कर सके वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है सबका उस चीज का जानकारी होती है जैसे डीसी ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता कर, होंगे कर्मचारी होंगे वनों का आकर कोई भी काम हुआ भाई साहब ने कहा वनो नहीं कह देगा बार बार डीसी साहब ने कहा वनों का आकर भाई यो साहब कह गए चलो आओगा कि साहब ने नो कहा तो काम वो अंडरस्टूड है उनके लिए कि साहब कह रहे हैं कि उस डी साहब ने किया उनको ज्ञान है डीसी साहब के ये काम है फिर वो कहेंगे कि ये किसने ये किसने कहा साहब ने कहा उन्हें दोबारा में कहने की जरूरत नहीं पड़ती डीसी साहब ने कहा अच्छा जी तो इसी प्रकार हमने राम राम सुना पर नो नहीं बेरा कौन से राम पे के काम बनेगा इन्होंने ये बताया गरीबदास जी ने किसी शास्त्र का खंडन नहीं किया वेद का खंडन नहीं किया कि वो गलत है या नहीं बिल्कुल सत्य है वेद पर जहां तक वो जिस साहब का जिस राम का की वह जानकारी देते हैं वहां तक बिल्कुल सत्य है इब हम डीसीएन प्रधानमंत्री की संज्ञा दे बैठे तो भाई देखा जान न दबे सब बंडा जो हम शुरू शुरू में थे ना छोटे छोटे थे तो नहर पर पाड़ी चले जाते तो एक दिन और सिर आ गया सिर पर टो पर साइकिल के ऊपर मारे गांव का एक बेलदार और तो पाड़ी भाग गए क्यों पहले बहुत भय होया करता अफसरों से आज से को तीस पैंतीस साल पहले की बात से और तो भाग के खेतान लग गए क्योंकि पानी चंडा करते थे फलडाई हुई थी और अपनी भैंस भूसों को नहर नूर आपास पास चलाया करते थे और बाकी रह गए जो रह गए उनको उन्होंने पकड़ लिया वो फिर डर गए रोन लागे बालक से थे उसके बाद और बह बढ़ गया हमारे भी कोई भी दिख जाता साहब आवा है डांक मार दे बाज जाते तो हमने मतलब नो नहीं गिरा था साहब है कौन इतना दूर गिरा था नहर पर साहब आ रहा था अब और सिर्फ लेके इंजीनियर चीफता है तो फिर उन्हें कितने साहब बोले हैं और इनकी अलग अलग से इनकी शक्तियां हैं तो इस प्रकार आज हम इस स्थिति पर है कि हमने राम के बारे में ज्ञान भी नहीं अल्लाह के उसे है और राम किसने कैसे गौड किसने वो लड़ाई जरूर कर देंगे हम अल्लाह नहीं कहेंगे वो राम नहीं कहेंगे यह भी कोई बात नहीं <clears throat> भाषा का अंतर है साहब कहो साहेब कहो राम कहो सतराम कहो खुदा कहो अल्लाह कहो गॉड कहो